श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड दूसरा अध्याय केसी का वध श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर उधर बलवान एवं मधोन्मत महादैत्य केसी घोड़े का रूप धारण कर रमणीय वृंदावन में गया और मेघ की भांति गर्जना करने लगा उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो जाते थे पूछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे मैथिलेंद्र उसका वेग दूसरा था उसे देखकर गोप गोपियों के समुदाय अत्यंत भय से व्याकुल हो भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए पाप और पापियों को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमर में पीताम्बर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने की चेष्टा में लग गए राजन उस महान असुर ने अपने पिछले पैरों से श्रीहरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कपाता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुंजाने लगा तब जैसे हवा कमल को उखाड़ कर फेंक देती है उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे एक योजन दूर फेंका उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां आकर ब्रज के प्रांगण में भगवान श्रीहरि के ऊपर अपनी पूछ से प्रहार किया राजन तब श्री कृष्ण ने उसकी पूछ पकड़ ली और बाहुवेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में सौ योजन दूर फेंक दिया आकाश से नीचे गिरने पर उसे मन ही मन कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ किंतु पुनः उठकर वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा अपने गर्दन के अयालों को कपाता और पूछ के बालों को आकाश में बार बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ श्रीहरि के सामने उछल कर आया तब भगवान मसूदन ने केशी को एक मुक्का मारा उनके मुक्के की मार से वह दो घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा तब उस अश्वरूपधारी असुर ने श्रीहरि के गले को अपने मुंह से पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उठ गया वहां आकाश में उन दोनों के बीच दो पहर तक घोर युद्ध हुआ राजन वह अपने पैरों से दांतों से गर्दन के अयालों से पूछ और तीखी खुरों से बार बार श्रीहरि पर आघात करने लगा तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना आरंभ किया और जैसे बालक कमंडलू फेंक दे उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया फिर भगवान श्रीहरि ने उसके मुंह में अपनी बाह डाल दी वह बाह उसके उदर तक जा पहुंची और असाध्य रोग की भांति बड़े जोर से बढ़ने लगी इससे उस महान असुर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और वह मल त्यागने लगा उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित हो भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया कुमुद बोला माधव मैं इंद्र का अनुचर हूँ मेरा नाम कुमुद है मैं बड़ा तेजस्वी रूपवान और वीर तथा देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था पूर्व काल में वृत्तासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुई ब्रह्महत्या की शांति के लिए स्वर्गलोक के स्वामी ने अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया अश्वमेध का घोड़ा श्वेत वर्ण का था उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला था मेरे मन में उस पर चढ़ने की इच्छा हुई इस कामना से मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को कर अतल लोक में चला गया तब मरुदगणों ने मुझे महादुष्ट को पास में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया देवेंद्र ने मुझे साप देते हुए कहा दुर्बुद्धे तू राक्षस हो जा भूतल पर दो मनवंतरों तक तेरी घोड़े की सी आकृति रहे प्रभु आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस साप से तत्काल मुक्त हो गया हूँ देव अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हो गया है आप समस्त लोकों के एकमात्र साक्षी हैं आप भगवान श्रीहरि को नमस्कार है श्री नारद जी कहते हैं राजन मिथिलेश्वर योग कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को उद्दीप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में केसी का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ